तापस बेश जनक सिय देखी भयो प्रेम परी तो सुबिशेखी पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जगो कह सब को सुरसरि रति सति तोरि गवन के विधि अण्डकरो गङ्गयवनिथल बडे रे यहि किये साधु घरे रे सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ उन्होंने कहा बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है ऐसा सब कोई कहते हैं तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीन ही स्थानों हरिद्वार प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं पितु कह सत्य सनेह सुबारी कुच महु मनहु समारी पुनि पे तु मातु लिन्हे उरलाये सहित दिन्हे सुहाये कहति न सकुचि मन माहि इहाँ बस बरज निभल नाहीं लखी रुख रानी जनाये उराओ हृदय सराहत सेलो सुभाओ बिना जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीताजी मानो संकोच में समा गई पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी सीता जी कुछ कहती नहीं हैं परंतु मन में सुखचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे बार बार मिल भेट सिया विदा हसन मान तही समय सिर भरत गति रान सुबान सयान राजा रानी के बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया सुनी भोपाल भरत व्यवहारो सोन सुगंध सुधा शशिसारो मुदे सजल नयन सुजसु सराहर लगे मुदित सुलोचने भरत कथा भव बन्ध विमोचने धर्मराजनय ब्रह्म विचारो यहाँ जथामति मोर प्रचारो सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विफल होकर अपने प्रेम अश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया हे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे वे बोले हे सुमुखी हे सुनैनी सावधान होकर सुनो भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ सोमते मोरी भरत महिमाहि कह काह चले चुवतन छाहे विधि गणपति अहे पति शिव सारद कवि को द बुध बुद्धि विसारद भरत चरित की प्रति करती गुण विमल विभूति समुझत सुनत सुखद काहु शुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहु वह धर्म राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे छल करके भी उनकी छाया तक को नहीं छू पाती ब्रह्मा जी गणेश जी शेष जी महादेव जी सरस्वती जी कवि ज्ञानी पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी धर्म शील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं निरवधिगुण निरूपम पुरुष भरत भरत समझान कही असुमेरु किसेर सम कवि मते सकुचायनी भरत जी का असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं ऐसा जानो सुमेरी पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई